वो उन चीज़ों को भी जानता है जो ज़मीन के अंदर जाती हैं और उनको भी जो उससे बाहर निकलती हैं उनको भी जो आसमान से उतरती हैं और उनको भी जो उसमें चढ़ती हैं और वही है जो बड़ा मेहरबान है बहुत बख्शने वाला है